शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है जो चीज आसमानों में है और जो जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है और वो गालिब है हिकमत वाला है मोमिनो तुम ऐसी बातें क्यों कहा करते हो जो किया नहीं करते अल्लाह इस बात से सख्त बेजार है कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं जो लोग अल्लाह की राह में ऐसे तौर पर सफ बांध कर लड़ते हैं कि गोया सीसा पिलाई हुई दीवार हैं वो बेशक अल्लाह के महबूब हैं और वो वक्त याद करने के लायक है जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि भाइयों तुम मुझे क्यों ईजा देते हो हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं फिर जब उन लोगों ने कजरवी की तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए और अल्लाह नाफरमानों को हिदायत नहीं देता और वो वक्त भी याद करो जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा कि अः बनी इसराइल मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं जो किताब मुझसे पहले आ चुकी है यानी तौरात उसकी तस्दीक करता हूं और एक पैगंबर जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा उनकी बिशारत सुनाता हूं फिर जब वो उन लोगों के पास खुली निशानियां लेकर आए तो कहने लगे कि ये तो सरासर जादू है और उससे ज्यादा जालिम कौन के बुलाया तो जाए इस्लाम की तरफ और वो अल्लाह पर झूठ बोहतान बांधे और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता ये चाहते हैं कि अल्लाह के चराग की रोशनी को अपनी फूकों से बुझा दें हालांकि अल्लाह अपनी रोशनी को पूरा करके रहेगा खा काफिर ना खुश ही हो वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि उसे सब दीनों पर गालिब करे खा मुशरकों को बुरा ही लगे मोमिनो मैं तुमको ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें अजाब अलीम से नजात दे वो ये कि अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुमको जन्नत के बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और पाकिजा मकानात में जो हमेशा की बहिश्त में है दाखिल करेगा यही बड़ी कामयाबी है और एक और चीज जिसको तुम बहुत चाहते हो यानी तुम्हें अल्लाह की तरफ से गलबा नसीब होगा और फतह अनकरीब होगी और मोमिनों को इसकी खुशखबरी सुना दो मोमिनों अल्लाह के मददगार हो जाओ जैसे ईसा इब्न मरियम ने हवारियों से कहा था कि भला कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाने में मेरे मददगार हो हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं सो बनी इसराइल में से एक गिरोह तो ईमान ले आया और एक गिरोह काफिर रहा आखिर हमने ईमान लाने वालों को उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद दी सो वो गालिब हो गए शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है जो चीज आसमानों में है और जो चीज जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है जो बादशाह हकीकी है पाक है जबरदस्त है हिकमत वाला है वही तो है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक पैगंबर भेजे जो उनके सामने उसकी आयतें पढ़ते और उनको पाक करते और उन्हें किताब हिकमत की तालीम देते हैं और इससे पहले तो ये लोग खुली गुमराही में थे और उनमें से और लोगों की तरफ भी इनको भेजा है जो अभी इन मुसलमानों से नहीं मिले और वो गालिब है हिकमत वाला है ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहता है अता फरमाता है और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है जिन लोगों को तौरात का हामिल बनाया गया फिर उन्होंने उसके हामिल होने का हक अदा न किया उनकी मिसाल गधे की सी है जिस पर बड़ी बड़ी किताबें लदी हों जो लोग अल्लाह की आयतों की तकजीब करते हैं उनकी मिसाल बुरी है और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता कह दो कि अ यहूद अगर तुमको यह दावा हो कि तुम ही अल्लाह के दोस्त हो और दूसरे लोग नहीं तो अगर तुम सच्चे हो तो जरा मौत की आरजू तो करो और ये लोग उन अमाल के सबब जो ये कर चुके हैं हर गिज उसकी आरजू नहीं करेंगे और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है कह दो कि मौत जिससे तुम भागते हो वो तो तुम्हारे सामने आकर रहेगी फिर तुम पोशीदा और जाहिर के जानने वाले मालिक की तरफ लौटाए जाओगे फिर जो कुछ तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा मोमिनो जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख तर्क कर दो अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि कामयाब हो जाओ और जब उन लोगों ने सौदा बिकता या तमाशा होता देखा तो उधर भाग लिए और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें खुतबे में खड़ा छोड़ गए कह दो कि जो चीज अल्लाह के हां है वो तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर है और अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुनाफिक लोग तुम्हारे पास आते हैं तो अजरा निफाक कहते हैं कि हम इकरार करते हैं कि आप बेशक अल्लाह के पैगंबर हैं और अल्लाह जानता है कि दर हकीकत तुम उसके पैगंबर हो और अल्लाह जाहिर किए देता है कि मुनाफिक यकीनन झूठे हैं उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और उनके जरिए से लोगों को अल्लाह की राह से रोक रहे हैं कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं ये इसलिए कि ये पहले तो ईमान लाए फिर काफिर हो गए तो इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई सो अब ये समझते ही नहीं और जब तुम इनके तनासुब आजा को देखते हो तो इनके जिस्म तुम्हें क्या ही अच्छे मालूम होते हैं और जब ये गुफ्तगु करते हैं तो तुम इनकी तकरीर को तवज्जो से सुनते हो गोया लकड़ियां हैं जो दीवारों से लगाई गई हैं बुजदिल ऐसे कि हर जोर की आवाज को समझें कि इन पर बला आई ये तुम्हारे दुश्मन ही हैं सो इनसे मोहतात रहना अल्लाह इनको हलाक करे ये कहां बहके फिरते हैं और जब इनसे कहा जाए कि आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए मकफिरत मांगे तो सर हिला देते हैं और तुम इनको देखो कि तकबर करते हुए रुके ही रहते हैं तुम इनके लिए मकफिरत मांगो या ना मांगो इनके आगे बराबर है अल्लाह इनको हरगिज न बख्शेगा बेशक अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता यही हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं उन पर कुछ खर्च न करो यहां तक कि वो खुद बखुद भाग जाएं। हालांकि आसमानों और जमीन के खजाने अल्लाह ही के हैं लेकिन मुनाफिक नहीं समझते कहते हैं कि अगर हम लौटकर मदीने पहुंचे तो इज्जत वाले जलील लोगों को वहां से निकाल बाहर करेंगे हालांकि इज्जत अल्लाह की है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मोमिनों की लेकिन मुनाफिक नहीं जानते मोमिनो तुम्हारा माल और औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे और जो ऐसा करेगा तो वो लोग खसारा पाने वाले हैं और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस वक्त से पेशतर खर्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत आ जाए तो उस वक्त कहने लगे कि आए मेरे परवरदिगार तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हर गिज मोहलत नहीं देता और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है जो चीज आसमानों में है और जो चीज जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है उसी की सच्ची बादशाही है और उसी की तारीफ है और वो हर चीज पर कादिर है वही तो है जिसने तुमको पैदा किया फिर कोई तुम में काफिर है और कोई मोमिन और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है उसी ने आसमानों और जमीन को हिकमत से पैदा किया और उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी अच्छी बनाई और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो सब जानता है और जो कुछ तुम छुपा कर करते हो और जो खुल्लम खुल्ला करते हो उससे भी आगाह है और अल्लाह दिलों के भेदों तक से वाकिफ है क्या तुमको उन लोगों के हाल की खबर नहीं पहुंची जो पहले काफिर हुए थे तो उन्होंने अपनी करतूत की सजा का मजा चख लिया और अभी दुख देने वाला अजाब और होना है यह इसलिए कि उनके पास पैगंबर खुली निशानियां लेकर आते तो वो कहते कि क्या एक आदमी हमें हिदायत करेगा तो उन्होंने उनको न माना और मुंह फेर लिया और अल्लाह भी बेनियाज हो गया और अल्लाह बेनियाज है लायक हमदो सना है जो लोग काफिर हैं उनका एतकाद है कि वो दोबारा हरगिज नहीं उठाए जाएंगे कह दो क्यों नहीं मेरे परवरदिगार की कसम तुम जरूर उठाए जाओगे फिर जो काम तुम करते रहे हो वो तुम्हें बताए जाएंगे और ये बात अल्लाह को आसान है तो अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस नूर यानी कुरान पर जो हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है जिस दिन वो तुमको इकट्ठा करेगा यानी हशिर के दिन वो नुकसान उठाने का दिन है और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो उससे उसकी बुराइयां दूर कर देगा और जन्नत के बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे यही बड़ी कामयाबी है और जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही अहले दोजख हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे और वो बुरी जगह है कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है वो उसके दिल को हिदायत देता है और अल्लाह हर चीज से बाखबर है और अल्लाह की इतात करो और उसके रसूल की इतात करो बस अगर तुम मुंह फेर लोगे तो हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल खोल कर पहुंचा देना है अल्लाह जो मबूद हक है उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें मोमिनो तुम्हारी बीवियों और औलाद में से बास तुम्हारे दुश्मन भी हैं सो उनसे बचते रहो और अगर मुआफ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह भी बख्शने वाला है मेहरबान है तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो आजमाइश है और अल्लाह के यहां बड़ा आजिर है सो जहां तक हो सके अल्लाह से डरो और उसके अहकाम को सुनो और उसके फर्माबरदार रहो और उसकी राह में खर्च करो ये तुम्हारे हक में बेहतर है और जो शख्स तबीयत के बुखल से बचाया गया तो ऐसे ही लोग राह पाने वाले हैं अगर तुम अल्लाह को नेक नियति से कर्ज दोगे तो वो तुमको उसका कई गुना देगा और तुम्हारे गुनाह भी मुआफ कर देगा और अल्लाह कदर शनास है बुर्दबार है पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है गालिब है हिकमत वाला है शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से कह दो कि जब अपनी बीवियों को तलाक देने लगो तो उनकी इद्दत को पेश नजर रखकर तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरो न तो तुम ही उनको अय्याम इद्दत में उनके घरों से निकालो और न वो खुद ही निकलें हां अगर वो खुली बेहयाई करें तो और बात है और ये अल्लाह की हदें हैं और जो अल्लाह की हदों से तजावज करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा ऐ तलाक देने वाले तुझे क्या मालूम शायद अल्लाह इसके बाद रुजत की कोई सबील पैदा कर दे फिर जब वो अपनी मियाद यानी इद्दत खत्म होने के करीब पहुंच जाएं तो या तो उनको अच्छी तरह से जौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो और अपने में से दो मुनसिफ मर्दों को गवाह कर लो और ए गवाह हो अल्लाह के लिए दुरुस्त गवाही देना इन बातों से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और रोज आखिरत पर ईमान रखता है और जो कोई अल्लाह से डरेगा वो उसके लिए रंजो गम से नजात की सूरत पैदा कर देगा और उसको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसको वहम गुमान भी ना हो और जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो वो उसके लिए काफी होगा अल्लाह अपने काम को जो वो करना चाहता है पूरा कर देता है अल्लाह ने हर चीज का अंदाजा मुकर्र कर रखा है और तुम्हारी तलाक वाली बीवियां जो हैज से नाउमीद हो चुकी हों अगर तुमको उनकी इद्दत के बारे में शुबा हो तो उनकी इद्दत तीन महीने है और जिनको अभी हैज नहीं आने लगा उनकी इद्दत भी यही है और हमल वाली औरतों की इद्दत वजह हमल यानी बच्चा जन्ने तक है और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके काम में सहूलत पैदा कर देगा ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम पर नाजिल किया है और जो अल्लाह से डरेगा वो उससे उसके गुनाह दूर कर देगा और उसे अजर अजीम बख्शेगा तलाक वाली औरतों को अयाम इद्दत में अपनी हैसियत के मुताबिक वहीं रखो जहां खुद रहते हो और उनको तंग करने के लिए तकलीफ न दो और अगर वो हमल से हो तो बच्चा पैदा होने तक उनका खर्च देते रहो फिर अगर वो बच्चे को तुम्हारे कहने से दूध पिलाएं तो उनको उनकी उजरत दे दो और बच्चे के बारे में पसंदीदा तरीक से मुआफ़त रखो और अगर बाहम जिद और ना इतफाकी करोगे तो बच्चे को उसके बाप के कहने से कोई और औरत दूध पिलाएगी साहेब वसत को अपनी वसत के मुताबिक खर्च करना चाहिए और जिसके रिस्क में तंगी हो जितना अल्लाह ने उसको दिया है वो उसके मुआफिक खर्च करे अल्लाह किसी को जेरबार नहीं करता मगर उसी के लिहाज से जितना उसको दिया है और अल्लाह करीब तंगी के बाद आसानी कर देगा और बहुत सी बस्तियों के रहने वालों ने अपने परवरदिगार और उसके पैगंबरों के अहकाम से सरकशी की तो हमने उनको सख्त हिसाब में पकड़ लिया और उन पर ऐसा अजाब नाजिल किया जो ना देखा था न सुना सो उन्होंने अपने कामों की सजा का मजा चख लिया और उनका अंजाम नुकसान ही तो था अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है तो ए अक्ल वालो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो अल्लाह ने तुम्हारे पास नसीहत भेज दी है यानी ऐसे पैगंबर जो तुम्हारे सामने अल्लाह की वाज आयतें पढ़ते हैं ताकि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे हैं उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आए और जो जो अल्लाह पर ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा वो उनको जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे अल्लाह ने उनके लिए क्या खूब रिस्क रखा है अल्लाह ही तो है जिसने सात आसमान पैदा किए और वैसी ही जमीनें भी इनमें अल्लाह का हुक्म उतरता रहता है ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और ये कि अल्लाह अपने इल्म से हर चीज का अहाता किए हुए है शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज की है तुम उससे कनारा कछी क्यों करते हो क्या इससे अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हो और अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है अल्लाह ने तुम लोगों के लिए तुम्हारी कस्मों का कफारा मुकर्र कर दिया है और अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है और वो दाना है हिकमत वाला है और याद करो जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से एक भेद की बात कही तो उसने दूसरी को बता दी फिर जब उसने उसको जाहिर कर दिया और अल्लाह ने इस हाल से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बीवी को वो बात कुछ तो जताई और कुछ ना बताई सो जब वो बात उनको बताई तो वो पूछने लगी कि आपको ये किसने बताया फरमाया कि मुझे उसने बताया है जो सब कुछ जानने वाला है खबरदार है अगर तुम दोनों अल्लाह के आगे तौबा करो तो बेहतर है क्योंकि तुम्हारे दिल मायल हो ही गए हैं और अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बाहम एनत करोगी तो अल्लाह और जिब्रील और नेक किरदार मुसलमान उनके हामी और दोस्तदार हैं और इनके अलावा सब फरिश्ते भी मददगार हैं ए अजवाज नबी अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तलाक दे दें तो अजब नहीं कि उनका परवरदिगार तुम्हारे बदले उनको तुमसे बेहतर बीवियां दे दे मुसलमान ईमान वालियां फर्मा तौबा करने वालियां इबादत गुजार रोजा रखने वालियां शादीशुदा और कुंवरियां मोमिनों अपने आप को और अपने अहलोयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जिस पर तुंद खू और सख्तगीर फरिश्ते मुकर्र हैं वो किसी हुक्म की जो अल्लाह उनको देता है नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म उनको मिलता है उसे बजा लाते हैं काफिरो आज बहाने मत बनाओ जो अमल तुम किया करते थे उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा मोमिनो अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुसवा नहीं करेगा बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि परवरदिगार हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना दोजक है और वो बहुत बुरी जगह है अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई है ये दोनों हमारे दो नेक बंदों के घर में थीं और दोनों ने उनसे खयानत की तो वो अल्लाह के मुकाबले में उन औरतों के कुछ भी काम ना आए और उनको हुक्म दिया गया कि दूसरे दाखिल होने वालों के साथ तुम भी दो जख्म दाखिल हो जाओ और मोमिनों के लिए एक मिसाल तो फिराउन की बीवी की बयान फरमाई कि उसने अल्लाह से इल्तिजा की कि अय मेरे परवरदिगार मेरे लिए बहिश्त में अपने पास एक घर बना और मुझे फिराउन और उसके अमल से नजात बख्श और जालिम लोगों से मुझको छुड़ा ले और दूसरी मिसाल इमरान की बेटी मरियम की जिन्होंने अपनी इज्जत नामूज को महफूज रखा तो हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी और वो अपने परवरदिगार के कलाम और उसकी किताबों को बरहक समझती थीं और वो फर्मा बरदारों में से थीं शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है वो कि जिसके हाथ में बादशाही है बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज पर कादिर है उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है और वो जबरदस्त है बख्शने वाला है उसी ने साथ आसमान ऊपर तले बनाए ऐ देखने वाले क्या तू रहमान की तखलीक में कुछ नक्स देखता है जरा आंख उठाकर देख भला तुझको आसमान में कोई शिगाफ नजर आता है फिर बार बार नजर कर तो नजर हर बार तेरे पास नाकाम और थक कर लौट आएगी और हमने करीब के आसमान को तारों के चरागों से जीनत दी और उनको शैतानों के मारने का आला बनाया और उनके लिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफर किया उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बुरा ठिकाना है जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उसका चीखना चिल्लाना सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी गोया मारे जोश के फट पड़ेगी जब उसमें उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो दोजक के दारोगा उनसे पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था वो कहेंगे क्यों नहीं जरूर खबरदार करने वाला आया था बस हमने उसको झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज नाजिल ही नहीं की तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो और कहेंगे अगर हम सुनते या समझते होते तो दो जखियों में ना होते बस वो अपने गुनाहों का एतराफ कर लेंगे सो दो जखियों के लिए रहमत से दूरी है और जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है और तुम लोग बात पोशीदा कहो या जाहिर वो तो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है क्या जिसने पैदा किया वो इल्म नहीं रखता वो तो पोशीदा बातों तक का जानने वाला है हर चीज से आगाह है वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को हमवार पस्त बनाया तो उसके रस्तों में चलो फिरो और अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ और तुमको उसी के पास कब्रों से उठकर जाना है क्या तुम उससे जो आसमान में है बेखौफ हो कि तुमको जमीन में धंसा दे और तभी वो थरथराने लगे क्या तुम उससे जो आसमान में है निडर हो कि तुम पर कंकर भरी हवा छोड़ दे सो तुम अनकरीब जान लोगे कि मेरा डराना कैसा रहा और जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने भी झुटलाया था सो देख लो कि मेरा कैसा अजाब हुआ क्या इन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा जो परों को फैलाए रहते हैं और उनको सुकेड़ भी लेती हैं रहमान के सिवा उन्हें कोई थाम नहीं सकता बेशक वो हर चीज को देख रहा है भला ऐसा कौन है जो तुम्हारी फौज बनकर रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सके काफिर तो धोखे ही में है भला अगर वो अपना रिस्क बंद कर ले तो कौन है जो तुमको रिस्क दे सके लेकिन ये सरकशी और नफरत में फंसे हुए हैं भला जो शख्स चलता हो मुंह के बल औंधा वो ज्यादा राह रास्त पर है या वो जो सीधे रस्ते पर सीधा चल रहा हो कह दो वही तो है जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए मगर तुम कम ही एहसान मानते हो कह दो कि वही है जिसने तुमको जमीन में फैलाया और उसी के रूबरू तुम जमा किए जाओगे और काफिर कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा क्यामत का कब पूरा होगा कह दो कि इसका इल्म अल्लाह ही को है और मैं तो खोल खोल कर डर सुना देने वाला हूं सो जब वो देख लेंगे कि वो अजाब करीब आ गया तो काफिरों के मुंह बिगड़ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि ये वही है जिसके तुम तलबगार थे कहो कि भला देखो तो अगर अल्लाह मुझको और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर मेहरबानी करे तो कौन है जो काफिरों को दुख देने वाले अजाब से पनाह दे कह दो कि वो जो रहमान है हम उसी पर ईमान लाए और उसी पर भरोसा रखते हैं तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि खुली गुमराही में कौन पड़ा है कहो कि भला देखो तो अगर तुम्हारा पानी जो तुम पीते हो और बरतते हो खुश्क हो जाए तो अल्लाह के सिवा कौन है जो तुम्हारे लिए शफाफ पानी का चश्मा बहा लाए शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है नून कलम की और जो कुछ लिखने वाले लिखते हैं उसकी कसम क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अपने परवरदिगार के फजल से दीवाने नहीं हो और बेशक तुम्हारे लिए बे इंतहा अजर है और यकीनन तुम अखलाक के आला मरतबे पर हो सोन करीब तुम भी देख लोगे और ये काफिर भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है तहकीक तुम्हारा परवरदिगार उसको भी खूब जानता है जो उसके रस्ते से भटक गया और उनको भी खूब जानता है जो सीधे रस्ते पर चल रहे हैं तो तुम झुटलाने वालों का कहा न मानना ये लोग चाहते हैं कि तुम नरमी इख्तियार करो तो ये भी नर्म हो जाएं और किसी ऐसे शख्स के कहे में ना आ जाना जो बहुत कस्में खाने वाला है जलील है शरारत से इशारे करने वाला लगाई बुझाई करने वाला माल देने में बड़ा बकील हद से बढ़ा हुआ बदकार सख्त खूह और इसके अलावा बदजात है इस सबब से कि माल और बेटे रखता है जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये अगले लोगों के अफसाने हैं हम अन करीब इसकी ऊंची नाक पर दाग लगाएंगे हमने इन लोगों की उसी तरह आजमाइश की है जिस तरह बाग वालों की आजमाइश की थी जब उन्होंने कस्में खा खा कर कहा कि सुबह होते होते हम उसका मेवा तोड़ लेंगे और इंशाला ना कहा सो वो अभी सो ही रहे थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रातों रात उस पर एक आफत फिर गई तो वो ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती फिर जब सुबह हुई तो वो लोग एक दूसरे को पुकारने लगे कि अगर तुमको काटना है तो अपनी खेती पर सवेरे ही जा पहुंचो सो वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज वहां तुम्हारे पास कोई फकीर ना आने पाए और कोशिश के साथ सवेरे ही जा पहुंचे गोया पैदावार पर कादिर हैं फिर जब उन्होंने बाग को देखा तो वीरान कहने लगे कि हम रास्ता भूल गए हैं नहीं बल्कि हम बेनसीब हो गए एक जो उनमें समझदार था बोला क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्वीर क्यों नहीं करते दूसरे कहने लगे कि हमारा परवरदिगार पाक है बेशक हम ही कसूरवार थे फिर लगे एक दूसरे की तरफ रुख करके मलामत करने कहने लगे हाय शामत हम ही हद से बढ़ गए थे उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार इसके बदले में हमें इससे बेहतर बाग इनायत करे हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करते हैं देखो अजाब यूं होता है और आखिरत का अजाब सबसे बढ़कर होगा काश ये लोग जानते होते परहेजगारों के लिए उनके परवरदिगार के यहां नेमत के बाग हैं क्या हम फर्मा बरदारों को नाफरमानों की तरह नेमतों से महरूम कर देंगे तुम्हें क्या हो गया है कैसी तजवीजें करते हो क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें यह बात पढ़ते हो कि जो चीज तुम पसंद करोगे वो तुमको जरूर मिलेगी या तुमने हमसे कस्में ले रखी हैं जो कयामत के दिन तक चली जाएंगी कि जो कुछ तुम तय कर लोगे वो तुम्हारा होगा इनसे पूछो कि इनमें से कौन इसका जिम्मा लेता है क्या इस कौल में इनके कुछ शरीक हैं अगर ये सच्चे हैं तो अपने शरीकों को ले आए जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कुफार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे फिर वो सजदा न कर सकेंगे उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और उन पर जिल्लत छा रही होगी हालांकि पहले उस वक्त सजदे के लिए बुलाए जाते थे जबकि वो सही और सालिम थे सो मुझको इस कलाम के झुटलाने वालों से समझ लेने दो हम इनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीक से पकड़ेंगे कि इनको खबर भी ना होगी और मैं इनको मोहलत दिए जाता हूं मेरा दांव बड़ा मजबूत है ए नबी क्या तुम इनसे कुछ मुआवजा मांगते हो कि इन पर तावान का बोझ पड़ रहा है या इनके पास गैब की खबर है कि उसे लिखते जाते हैं सो अपने परवरदिगार के फैसले का इंतजार किए रहो और मछली का लुकमा होने वाले यूनुस की तरह न होना कि उन्होंने अपने रब को पुकारा जबकि वो दिल ही दिल में घुट रहे थे अगर उनके परवरदिगार की मेहरबानी उनको न संभाल लेती तो वो चटियल मैदान में डाल दिए जाते मजमूम हालत में फिर उनके परवरदिगार ने उनको बरगुजीदा करके नेकूकारों में शामिल कर लिया और काफिर जब ये नसीहत की किताब सुनते हैं तो यूं लगते हैं कि तुमको अपनी निगाहों से फिसला देंगे और कहते हैं कि यह तो दीवाना है और लोगों ये कुरान तमाम जहानों के लिए नसीहत है शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है सचमुच होने वाली वो सचमुच होने वाली क्या है और तुमको क्या मालूम है कि वो सचमुच होने वाली क्या है वही खड़खड़ाने वाली जिसको समूद और आद दोनों ने झुटलाया सो समूद तो जबरदस्त जलजले से हलाक कर दिए गए रहे आद तो उनको निहायत जोरदार आंधी से तबाह कर दिया गया अल्लाह ने उसको सात रात और आठ दिन उन पर चलाए रखा तो आए मुखातब तू उन लोगों को उसमें इस तरह गिरे हुए देखता जैसे खजूरों के खोखले तने फिर क्या तू उनमें से किसी को भी बाकी देखता है और फिराउन और जो लोग उससे पहले थे और वो जो उल्टी हुई बस्तियों वाले थे सब गुनाह के काम करते थे सो उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगंबर की नाफरमानी की तो अल्लाह ने भी उनको बड़ा सख्त पकड़ा जब पानी तुगयानी पर आया तो हमने तुम लोगों को कश्ती में सवार कर लिया ताकि उसको तुम्हारे लिए यादगार बनाए और याद रखने वाले कान उसे याद रखें फिर जब सूर में एक बार फूंक मार दी जाएगी और जमीन और पहाड़ दोनों उठा लिए जाएंगे फिर एक बार ही तोड़ फोड़ कर बराबर कर दिए जाएंगे तो उस रोज हो पड़ने वाली यानी कयामत हो पड़ेगी और आसमान फट जाएगा तो वो उस दिन कमजोर होगा और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे और तुम्हारे परवरदिगार के अर्श को उस रोज आठ फरिश्ते अपने ऊपर उठाए होंगे उस रोज तुम लोग सब पेश किए जाओगे इस तरह कि तुम्हारी कोई पोशीदा बात छुपी ना रहेगी अब जिसका आमाल नामा उसके दाहने हाथ में दिया जाएगा वो दूसरों से कहेगा कि लीजिए मेरा नामा अमाल पढ़िए मुझे यकीन था कि मुझको मेरा हिसाब किताब जरूर मिलेगा बस वो शख्स मन माने ऐश में होगा यानी ऊंचे बाग में जिसके मेवे झुके हुए होंगे उनसे कहा जाएगा कि जो आमाल तुम अयाम गुजश्ता में आगे भेज चुके हो उनके एवज मजे से खाओ और पियो और जिसका नामाए अमाल उसके बाई हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा ए काश मुझको मेरा अमाल नामा न दिया जाता और मुझे मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्या है ए काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम ना आया मुझसे मेरा इकतेदार जाता रहा हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो अब इसे तोक पहना दो फिर दोजक की आग में इसे झोंक दो फिर जंजीर से जिसकी लंबाई सत्तर गज है जकड़ दो ये न तो अल्लाह अजमत वाले पर ईमान लाता था और न फकीर के खाना खिलाने की तरगीब देता था सो आज इसका भी यहां कोई दोस्त नहीं और न इसके लिए कोई खाना है सिवाय जख्मों के धोवन के जिसको गुनागारों के सिवा कोई नहीं खाएगा सो मैं उन चीजों की कसम खाता हूं जो तुमको नजर आती हैं और उनकी जो तुम्हें नजर नहीं आती कि यह कुरान एक मुआज फरिश्ते का पहुंचाया हुआ कलाम है और यह किसी शायर का कलाम नहीं मगर तुम लोग बहुत ही कम ईमान लाते हो और न किसी काहिन का कौल है लेकिन तुम लोग बहुत ही कम गौर फिक्र करते हो ये रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है और अगर ये पैगंबर हमारी नस्बत कोई बात झूठ बना लाते तो हम इनका दाहना हाथ पकड़ लेते फिर इनकी रगे गर्दन काट डालते फिर तुम में से कोई हमें इससे रोकने वाला ना होता और ये किताब तो परहेजगारों के लिए नसीहत है और हम जानते हैं कि तुम में से बाज इसको झुटलाने वाले हैं नीज ये काफिरों के लिए मूजिब हसरत है और कुछ शक नहीं कि ये यकीन करने के लायक है सो तुम अपने परवरदिगार आजीम के नाम की तस्बीह करते रहो शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है एक तलब करने वाले ने आजाब तलब किया जो नाजिल होकर रहेगा यानी काफिरों पर और कोई उसको टाल ना सकेगा जो बुलंदियों वाले अल्लाह की तरफ से नाजिल होगा जिसकी तरफ रूहुल कुदस और दूसरे फरिश्ते चढ़ते हैं उस रोज नाजिल होगा जिसका तूल पचास हजार बरस होगा तो तुम काफिरों की बातों को हौसले के साथ बर्दाश्त करते रहो लोग उस दिन को दूर समझते हैं जबकि हमारी नजर में वो करीब है जिस दिन आसमान ऐसा हो जाएगा जैसे पिघला हुआ तांबा और पहाड़ ऐसे जैसे रंगीन ऊन और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा हालांकि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे उस रोज गुनागार चाहेगा कि किसी तरह उस दिन के अजाब के बदले में सब कुछ दे दे यानी अपने बेटे और अपनी बीवी और अपने भाई और अपना खानदान जिसमें वो रहता था और जितने आदमी जमीन पर हैं गरज सबको दे डाले फिर अपने आप को अजाब से छुड़ा ले लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा वो भड़कती हुई आग है खाल उधेड़ कर कलेजा निकाल लेने वाली वो उन लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी जिन्होंने दीन हक से एराज किया और मुंह फेर लिया और माल जमा किया फिर सेंत सेंत कर रखा सदक